और अग्रगणी आपका तो अग्नि नाम हृदय आपने क्या सामर्थ्य है तस्वीर तो किम विधियम तुम्हारे क्या करने में कार्य करने में सामर्थ्य है प्रश्न जब पूछा गया यक्ष के द्वारा इदम सर्वम दसयम नीलम मुझे इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उन सारे वस्तु को जलाने का मेरे अंदर सामर्थ्य इसके तो सामने में उसको जलाने के लिए एक सूखा घास रख दिया एक बोला है सर्वत सौजवेरा उसको जलाने के लिए उसने पूरा ही जोर लगा दिया अपने सारे वेद से भी उस चिंकी को वो न सुशासक वो जवान अच्छा, तो लेकिन बुद्धि वही भेड़ हो जैसे छोड़ गया लौट गया वो आगे पूछना चाहेगा भाई आप कौन है जो मेरे को बिंदु किए मात्रा करके उसकी जानकारी लेता जिसे मिल कहा तो पाठ पड़ी और न तो शतम तो अच्छा अशतम तो मेरे तो लक्ष्य क्या है इस बात को वह नहीं समझ इसलिए तम सहयोग से जयराज इंद्र नहीं जनता जवाब दिया फिर उसके ऊपर कृपा हो रखा हुआ जोगी जी आ गई साकार कैसे इनके साथ हुआ नहीं तो पहले लोग इनके लिए कम जो है प्रभावशील है कम महिमावान है ये परोक्ष ज्ञान बहता के लोग पंचगतवंतम विपिक्षुम और समीपे अप्रगलवंता तुष्टिम भूतम अक्षम अव्यवगत अग्रिम करके भाषा तक वो सीखी वह जो गया हुआ पूछने की इच्छा से रखने वाला तम गतवंतम पूछने की इच्छा वाला वह जो अग्नि जो गया हुआ है पर पे अपरगर बता लेकिन जो है वहां गया तो नहीं पूछ रहे तुम कौन हो लेकिन पूछने के लिए उसके समीप जाने की बात का बुद्धि आम नहीं करी अपरगर बता प्रगलवा स्फूर्ति मेघा प्रभा प्रतिभा उसके काम नहीं करी तो तुष्टि भूतम तो चुपचाप खड़ा हो गया तो उसको देख करके यक्ष ने स्वयं कहा अग्नि पर की आवाज अग्नि के अग्नि को पूछा उसने कौन सी तुम कौन एवं ब्रह्मणा पृष्ठ अग्नि इस प्रकार से ब्रह्म के द्वारा पूछे जाने पर तो अग्नि ने कहा क्या कहा अग्नि ने कहते हैं अग्नि नाम हम प्रसिद्ध मैं अग्नि नाम वाला हूँ जो तो प्रसिद्ध सिद्धार्थ वेदार्थी और मेरा रूपा नाम जाति नाम प्रसिद्ध आत्मान स्वाधीन नाम प्रसिद्धि को देखते हुए वो अपने आप की प्रशंसा करता हुआ बोला ब्रह्मालोचक ऐसे कहता हुआ उस अग्नि से ब्रह्म ने कहा एवं प्रसिद्ध गुणनामवती इस प्रकार से प्रसिद्ध गुणों से संपन्न लाने वाला आप में कोई किम सामर्थ्यम तुम्हारे क्या सामर्थ्य है उसने कहा जगत परम दहेम भस्मी कुरिया संपूर्ण जगत को मैं जलाकर बना सकता हूँ इदम सावरानी जो कुछ भी प्रति में में सावरानी है सबको जला पृथ्वी उपाक्षर आगम तो जैसे अंतरिक्ष में भी दूसरे अग्निव्याम जो कहा गया दुर्लक्षण तो है उनके अंतरिक्ष अस्तित्व को भी अग्नि जला सकता है तस्मा एवं अभिमान होते ब्रह्मा ऐसे अभिमान वाला के प्रति उस ब्रह्म ने एक सूखा घास तो अग्नि अग्नि के सामने में उसको रख दिया एक मात्र ममाग्रदोदा मेरे आगे जो है इस सूखा घास मात्र को तुम जला दो तब मैं मान लूंगा तुम संपूर्ण रूप में जला सकती बच्चे हुए तो जब तुम भंग तो यदि तुम इसको जलाने में समर्थ नहीं होगी नीचे पर तो दूसरा जमान सर्वथा कई विषयों में जो है अपना जलाने की जो सामर्थ्य का अभिमान तुम त्याग झूठा अभिमान मत करो पुत्र भगवान उस घास को जलाने के लिए उस घास के पास भगवान सरल बनेगा सर्वोत्साह कर संपूर्ण उत्साह के साथ भेगे न दत्ता बहुत देर से भी गया तब भी मोशा और जलाने में सहमत समर्थ नहीं हो सकता जाते मेरा त्रम दग्ध अशक्त हो को अस प्रतिज्ञा जात मेधा अपने आप को जो जन्म जात ज्ञानी मानता है जो वह लेकिन उसको जलाल में समर्थ नहीं हुआ वो लज्जित होता लुटता लज्जा लज्जा लज्जित हुआ और हतक प्रतिज्ञा जो सर प्रतिज्ञा करी थी सारा संसार को जला दूंगा और ग्राहक को नहीं जला पाया उसकी प्रतिज्ञा यह हक हो गया इसलिए तथा अच्छा देव पुष्टि देवान प्रति कहने से अच्छे से और बोले बिना चुपचाप कहा से लौट गया इसके बाद देवता और आगे पूछने के लिए जब जरूरत था वो सबको न पूछ करके पूछना के कार्य की जरूरत हो लौट गया मैं जब यक्षम असतम सत्यवान हम विद्या तुम शिष्य को आकर के बोल दिया अरे यक्ष को मैं गंभीर प्रकार से जानने में समर्थ नहीं हो सका यह विशेष रूप रहा तो यक्ष कौन है यह मैं नहीं जान सका अब लोगों ने बढ़ा वायु को तो चलो तुम अग्नि तो को भेज दिया गया और छोटा भाई तो फेल हो गया अरे भाई बड़ा भाई इसको भेजेंगे अधवायुमग्रवन् वायवेतद्विजानीहि किमेतु गच्छमिति तद्वेति उदभ्यद्रवत्तमभ्यवरुकोऽसीति वायुर्वाहमस्मीत्यब्रवीन् मातुश्वावाहमस्मीति तस्मिन् अस्मि किं वीर्यमिति अपि क्षतिपत्याय सर्वजनिवर आयातम वायु मब्रवन और समस्त देवता इंद्र जी को वायु से कहे ये वायो ये वायो ये वायु देवता है आप इसको जानो इसलिए तो बच्चे में कौन है विशेष ज्ञान जाए तथा इसलिए मैं ठीक और इसलिए देवी देवता देवताओं ने कोई विशेषण ज्ञान नहीं रावण हे जात रहेगा अग्नि से कहा हे जात यहाँ का नाम दे बोल रहे हरे वाले मेरा अहंगा इतना है उसको बड़ा है राजा अहंगा होता है राजा की क्या बोलता है कल अत्यजात तम अत्यवगत लगाते वायु ने उस की ओर दौड़ते हुए गया ऊंचों उगर लेकिन वहां जाते हुए क्या उग्र दान हो गया तो लगा अरे कौन है आके खड़ा चुपचाप तो, तो, तो नाम वायु तो नाम का है और अहंकार इतना ज्यादा अपने स्थिति से मान लीजिए मातृष्का व अहम मैं अंतरिक्ष में देवर में रहने वाला हूँ मातरी अंतरिक्ष स्वयं गच्छी की मातृष्का अंतरिक्ष में घूमने फिरने वाला भी हूँ मैं केवल उसके जैसे नहीं कोई पार्थिव वस्तु का आधार बना करके जो इन चलने वाले पृथ्वी पर वैसा ही नहीं और उगरी देखी उससे ज्यादा हूँ मैं अंतरिक्ष में घूमने फिरने वाला जब आपने जबरदस्त अहंकार को छोड़ दिया तब तक सुनने कोई क्यों मेरे में कोई इच्छा ऐसे जो आप है आपको क्या सामर्थ्य है अभी वजन धर्म माधुर्य पहले का प्रति में जो कुछ भी है उन सभी को मैं ग्रहण कर सकता हूँ अगर इसीलिए हम खाया फैल जाता हवा में उड़ा जाता है कुछ भी हवा तो काम नहीं करता है ना कहाँ का कहाँ जमीन उठा के ले जाता है सब कुछ कर देता है तो उठा के ले जाए उसे काम सुखाना और पकड़ना दोनों वायु का काम उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं इस घास को उठाओ भाई देखो उठाओ जो तस्वीर धर्म में जाऊँ कई बजा उस वायु के लिए एक चिमटा रख दिया और कहा इसे पकड़ो वायु उस चिमटे के पास गया और अपने सारे वेग से भी उस ग्रह ने हज को खिलाया सरल नश शाखा पकड़ ग्रहण नहीं कर सकते तो गए आगे पूछना क्या था वहीं से उसकी भी जो बेचारी हुई जब हुई जब हुआ तो लौट जाएंगे जाके पूछा ही नहीं मैं भी ऐसे काम तो किया तो लौट करके देवता को कहा भाई ये यक्ष क्या है इसको विशेष रूप से मैं कुछ भी जान नहीं पूरे मंत्र परिचित शब्दों का इसे संक्षेप बता दिया तो वायु किए अनंतरम इतनी अनंतरम वायु भगवान ये वायु एक सूर्यादि देवता आप इसको जन समानार्थम गुरुणा मंत्र के समान ही आकर भी वाना गमना गंधना वायु वहां गति गंदन गंधन योग है ना वाना है ना उसका गमना भी है गंजना गति और गंधन गमना गमनार और गंधना गंधना सूचना सूचना सूचना वायु इसे मातरी अंतरिक्ष श्वेत की मातृक्ष मातरी अंतरिक्ष है अंतरिक्ष है जो नहीं होने वाला है श्वेत गुप्त की मातृक्ष का इधम सर्वम और इन सबको मैं ग्रहण कर सकता हूँ दुनिया सबको मैं ग्रहण कर लूंगा

हिंदू ने बोला ना हाँ, तुम कौन हो मेरा अपना नाम बताया काम बताया फेल हो गए और उसे तो पूछा भी देखे आया और देखता रहा उधर विशिष्ट प्रकाश रूपया प्रतिफलित यह है भाषित वस्तु और जाएंगे अदैन्द्र मधुवन ये मधुवन अब इंद्र को कहा उसको भी जो राजा है ना आखिरी में प्रशंसा जो है पैदा इसमें प्रशंसा करते हे विधवन हे ये सब आप इसको जानिएगा सुनने तो अब छोटे मोटे को भेजने से फायदा नहीं तो बड़े दिग्गज गए दोनों फेल हो गए और बाकी छोटे मोटे क्या करेंगे इसलिए आप ही जाइए और इसको विशेष रूप से जानिए ये लक्ष्य कौन है अस्नात आज तक गया और पूछना चाह उससे सहयोगता दिया उनके सामने से वह रोहित ये इत्यादि संबोधन और इंद्र परमेश्वर भगवान ये बलवत्ता सर्वोच्च बल वाला है वो वज्र या तो हाथ में लिया हुआ कहना ही क्या उसके बारे में इसीलिए आप सर्वोत्कृष्ट बल वाले होने के कारण और हम सर्वदा परमेश्वर हम सब पर आ जाए आप इसीलिए तो आप ही आप आगे बोलिए आप ही जाइए ठीक है में क्या उनकी वो अस्मा जो है आत्मसमीपम घटा जो आत्मा के समीप जैसे ही पहुंचा तब ब्रह्म आप ये यही करेंगे जब आम को तो बंद करके बैठेंगे आप सोचेंगे और मैं ब्रह्म की ओर जाऊंगा अंधे अंधकार दिख जाएंगे कुछ नहीं तो अंधकार अभी थोड़ा तो बहुत प्रकाश दिख रहा तो प्रकाश भी जाती है पूरा अंधकार विद्यान के अंदर में कुछ नहीं बाहर लाइट जला थोड़ा होता है यहाँ पर प्रकाश है बाहर लाइट बंद करा तो संकल्प मार्ग से ही सारा समझे सामान्य उपयोजन देवता लोग थे असम सर लड़ाई हुआ और उसे देवता लोग जीत गए और जीत को अपनी महिमा और अपना विजय समझे ऐसे ऐसे ऐसा आपने सारा कहानी देखी था वैसे तो पहले अभी मन को मध्यम जिज्ञास के कहा आगे है कहानी ना मन को मध्यम आदमी नहीं ब्रह्म जिज्ञास है लेकिन मन को रहा है मंद बुद्धि वाला जिज्ञासु ही है ना ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की इच्छुक है अंग्रेज दृष्टि हम लोगों को दृष्टि बहुत तेज खोपड़ी है लोक लोगों की दृष्टिया बहुत तेज खोपड़ी वाला है लेकिन ब्रह्म दृष्टि है बंद बुद्धि उसकी बात सुन ये भी मेरा विवेकी है सब कुछ है इन बुद्धियां रूप में परिशुद्ध नहीं हो सकता के लिए कहा यह अर्थात साधक के लिए कहा उत्तम तो साधक के लिए सत्व तत्व प्रधान या सत्ता तत्व प्रधान दो खंड पसंद करने के बाद मध्यम और अधम बोधि के बालक के लिए उपासना विशिष्ट गृह विद्या का गठन किया है इसलिए साधक बाहरी कथा भी क्या मतलब साधक साधक के अंदर क्या हो रहा है वो बता कि साधक मंद क्यों हुआ पूर्व साधक की अपेक्षा होती है साधक मध्यम कोटि का क्यों इसी के लिए कथा बताए कारण बता रहे तुम्हारी मंदत्व का कारण क्या है तुम्हारे बुद्धि की कुंती भवन का क्या कारण है अहंकार ही कारण इसलिए चाहते कि देखो सत्गुण और रजगुण की लड़ाई चल पड़ी और रजगुण तमगुण को साथ लेकर की लड़ाई हुई शरीर के अंदर जब आप लेकिन अपना योग्यता क्षमता गुरु कृपा आदि के सहयोग से साधना करते करते करते यम नियम आसन प्राणायाम धारणा का अभ्यास करने के कारण रजगुण और तमगुण अभिभूत होकर सत्य में विजय हो जाता है वही यहाँ पर देवताओं का विजय और उधर रजगुण तमगुण हार गए प्रियसंत ये का विजय और रजवन तमुन के हाथ अभिभवन और उत्थान रजोन में अभिभूत हो गए और सत्य तो उनका उत्थान हुआ है मध्यम साधक के अंदर लेकिन वह साधक उस सत्य के उद्वेग को लेकर अभिमान कर बैठता है देखा मैंने इतने सालों से अभ्यास किया है इंद्रिय मन का ध्यान में बैठता हूं इसलिए तो मैं ऐसा हूं उनका गुमान ये भी सोचा तो सत्य का उद्रेक कर कर आत्मा क्यों करता इसलिए मुझे आत्मा का ही शरण लाना चाहिए ये उसके खोपड़ी में नहीं है यहाँ आते हैं बड़े बड़े तक मैं साठ साल से अभ्यास करना महान योगी हूँ इतने बच्चा पैदा किए कुछ नहीं ज्यादा नहीं पांच छह पैसे आज्ञा करते कभी कभी जाता है नाते पोते के पास किस बात का योगी हो गई इतनी वो ममता भी विचार नहीं अभिमान ही कर रहे कि मैं पचास साल से ये जरा है किंचित हुआ मानो घर बार छोड़ करके यहाँ आ गया इसका मतलब ये थोड़ी हो गया तुम महान वास्तव में योगी हो गए योगी होली की होली कहा गए होली को ढूंढना पड़ेगा जिस प्रकार के योगी को शास्त्रकार वर्णन करो तो ये योगी तो भी नहीं लगता जब को तो नहीं मिलेगा उसने कहा छिपा हुआ होगा तो इसीलिए तो अभिमान आ जाता है ज्योति अपनी साधना का अभिमान हो गया जबकि साधना जो हुई है जिसके शब्द को उद्रेक हमें लाभ हुआ है उसके कारण आपका की कृपा है विचार कृपाओं के बिना व्यक्ति कभी किसी भी साधना में किंचित भी सफलता प्राप्त नहीं सबसे पहले आपको कृपा हम अपने ऊपर कृपा करें ये निश्चय जो है संकल्प कर ले कि भाई हमारे मन में संकल्प क्यों आता है कि मैं साधना करूं ये आत्मकृपा से जिसके ऊपर आत्मकृपा नहीं है वो सांसारिक भोगों में लगा रहेगा वृद्धि फटी के चक्र बना रहे कहीं मिले रोम दे काम मिले वृद्धि इधर चोटी बना रहती तो है तब तक गति तो इस तरह आत्मकृपा ही नहीं है बाकी कृपा तो होने दूर की बात जिसकी पर आत्मकृपा है उसी के हृदय में ये विचार आता है कि मैं कुछ सामना करूं और इस आत्मकृपा कृपा के बदौलत वह जब साधना करने लगता है तो गुरु का संयोग होगा और महापुरुष प्राप्त आने पर जब ग्रह हो जाए सदगुरु मिलने में बहुत टाइम लगता है पहले तो छोटे मोटे गुरु लोग मिलते रहते हैं अलग अलग सीडी वाले लोग आप लोग जाने के लिए बीच बीच में गाइड नहीं होते जगह जगह पूछते रहते हो अलग अलग लोगों जब आपका गुरु जाए कितने लोग पूछते पूछते लक्ष्य पहुंच गए हैं लेकिन यहाँ छोटे मोटे गुरु बहुत मिलेंगे शुरू में असली जो सदगुरु मिलता है महापुरुष वो तो ईश्वर कृपा इसलिए पहले छोटे मोटे गुरुओं की कृपा होती है तब ईश्वर की कृपा होकर के सदगुरु प्राप्त जब वो सदगुरु प्राप्त होता है तभी शास्त्र कृपा होती है उससे पहले जितना भी शास्त्र करो शास्त्र अंदर कुछ नहीं होता खोपड़ी में रह जाता है बुद्धि मन में रहता है अनुभव रूपेण अनुभूति रूपेण और वो नहीं हो सकता अनंत में इसलिए विचार कृपाओं की अपेक्षा है आपका कृपा आप बोलते आपकी कृपा तो आई इसलिए आप यहाँ आ गए हैं ये बिहार नहीं आते सुन रहे हैं कुछ कर रहे हैं आगे वजन में लगे हैं तो आत्मा कृपा जरूर है और कोई ना कोई गुरु को मिल ही गया है जैसा भी है तो गुरु कृपा भी वाले बारे भी छोटे मोटे गुरु होते हैं ऐसे में सब जगह कुछ मिल गया है आपको इसलिए आप लोगों को भी गुरु कृपा भी हुई है लेकिन लेना बाकी दो और है ईश्वर कृपा होकर के सदगुरु प्राप्त हो जिसके उपदेश हृदय शास्त्र कृपा वो दो भी लगे रहो तो दो भी तो ज्यादा देर नहीं लगता है शीघ्र प्राप्त हो लगे के लगाओ तो इधर नहीं इधर में ज्यादा घबराया नहीं वो नहीं सजा खड़े राम इसलिए उस पर विद्या की कृपा ना दुष्टा साधारण भाषाकार है तुम्हारे ऐसी कृपा नहीं मिली उसके भक्ति को देखा कट बोला उसको देखी कि नहीं बिल्कुल यक्ष को जानना चाहता और कुछ भी ये चाहता है इधर एक ही चीज की इच्छा है और संसार की कोई इच्छा नहीं वो आपने इन उत्पादों को भूल गया सब कुछ अहंकार को त्याग दिया है और लक्ष्य को जानना चाहता है ब्रह्म को जानने की सेवा है उसके दिमाग में और कुछ भी अभी नहीं तब जाकर के विद्या की कृपा होती है शास्त्र की कृपा होती है पूर्व ब्रह्मा पद पर्यंत को शुकर विष्ठा वक्त भावना करके त्यागने की क्षमता जब आती है तभी वास्तविक भक्ति जागृत है तब तक तो अधूरी है साधना भक्ति है साधुता भक्ति ये सारी बात को तो मध्यम अधिकारी के लिए समझाया जा रहा है इन कथा के माध्यम से और इसलिए क्या है अग्नि है वायु है अग्नि व इंद्र कौन होते मध्यम साधक के अंदर निर्भरता हो गए सतगुण विद्रेक उनका विजय हो गया और असुर हो गया आपके वो जो संग उनका विजय हो गया और उन लोगों ने साधना के सतगुण तो उदरे साधना के प्राप्त सगुण उदरे को जो कि कृपा लभ्य था पहले अहंकार ने स्व सामर्थ्य लभ्य समझ गया स्व सामर्थ्य लभ्य समझ गया अग्नि यहाँ पर कुछ नहीं है इस अहंकार के कारण भूता मन वायु अग्नि से भी ज्यादा श्रेष्ठ है वो बुद्धि है और इन स्वयं अहंकार मन भी अहंकार को यहाँ पर तीन रूप से लिया सबसे पहले मन कहता है लो मैंने तपस्या करके सारे पापों को नाश कर दिया रजगुण को मन सबसे पहले कहता है यदि मैं नहीं चाहता मैं तपस्या करने नहीं देता हूँ को मन ही सबसे पहले उठता है और कहता है मैं तप के द्वारा जब के द्वारा क्योंकि सबसे पहले क्या होता है मानस स्थिति नहीं तो मानस जब इसलिए करते हैं हम्म? वैखरी होता है वैखरी से जो है उपास होता है इन दोनों में जीवा का काम है पर मानस जब मन से जाप होता है मन से तप का धारण करोगे मन का ही खेल है और जाए तो भुला देता है आज मंगलवार है आप चाय पी लेते नाश्ता खा लेते मैं भी खाना चाह मन आज खब करके मन मंगलवार है और मन बड़ा ज्यादा जब तक चाय नाश्ता खा रहे हैं तब आपको याद में नहीं आएगा स्मृति में आएगा मन क्या मंगलवार तो खा लिए तब मन की कृपा से उपलब्धि होता है इसलिए मन को आसानी से अहंकार हो जाता है देखो मैंने जब किया मैंने तब किया मैंने व्रत किया इतने इतने सारे पाप नष्ट हो गए पापों को जलाने का सामर्थ्य इसलिए शास्त्रता में मनेगा कारण मोक्ष बंधन को तोड़ने का मार्ग मन से शुरू होता है इसलिए अग्नि तत्व और अग्रगामी बने हर जगह आगे बढ़ेगा कौन युद्ध बाद में पहला मन भागना है सोचती बाद में क्या उचित है क्या उचित है तो बाहर में सोच होता है लेकिन सबसे पहले मन धड़े लिए भागता और यहाँ भी सबसे पहले इसलिए अग्रगामी होने के साथ अग्नि अग्रगामी भी है और जातवेद भी सारी चीज तो कौन जान रहा है मन ही जानता है कोई नहीं जानता घर में रहते वक्त से लेकर के मरने के क्षण पर्यंत मन भी सारी चीजों को जानने वाला है इसलिए मन जात वेदी है अग्रगामी जात वेकार अग्नि ही मन और इसके बाद आता है बुद्धि क्या है वायु है वायु वर्ग शुद्ध है निर्मल बुद्धि बुद्धि को तो कोई लेन देन नहीं संसार से ये मानियों को बिगाड़ते रहता है नदी सारा का समय वहां भरते होता है ले जाता है सारा आज जो नहीं देना वो भी डाल देते हैं वहां क्योंकि आजकल की जो है आपका इंटरनेट है जो नहीं मिल जाए सारा कचरा आते होता है का परेशान आदमी आजकल ईमेल वगैरह में देखो तो चीजें आपके रहती है समय देखा भगवान चक्कर में चले सारे कचरा कचरा ही ज्यादा आता है वैसे मन क्या करता है सारा कचरा बुद्धि में डालता है बुद्धि को दूषित राजा मन तो क्या है अवधि निर्मल इसलिए वायु और मातृश अंतरिक्ष चरवी शैल गचुटी का अंतरिक्ष कौन तो बीच का स्थान है ना अर्थात जगत भी नहीं ब्रह्म भी नहीं जो बीच में है वो अंतरिक्ष बुद्धि ऐसी है मन जगत में जाता है और जब शुद्ध आत्मा है उन दोनों में जो बुद्धि क्या करती रहती निद्रा आदि से अवस्था को प्राप्त करता हुआ बीच अवस्था में चलने वाली होने से बुद्धि को मात्र विश्वास अरम इंद्र इंद्र नाम इंद्रा नाम इंद्र है जब कहते उसको क्यों इंद्रियों के सकल इंद्रियों का अधिष्ठाता है इसलिए वह राजा है अहंकार जो व्यक्ति अपने मन बुद्धि और अहंकार के सामर्थ्य को तो लेकर उस आत्मा को जानना चाहेगा कभी नहीं जान सकता है योजना अधिकारी इसलिए जीवन को नहीं जान सकता है क्योंकि अपने मन बुद्धि और अहंकार के अधीन होकर के उसको विशिष्ट रूप देना उस ब्रह्म को पकड़ना चाहता है इसलिए मंदिर मंद बुद्धिमाधिकारी उस आत्मा को नहीं जानता ये बात हम करते लेकिन अनेक कृत पुण्य के वजह से आत्मकृपा गुरु कृपा ये ईश्वर कृपा हो जाए जब तक उसने धैर्य की जरूरत धैर्य नहीं किया उसने अपना हार मान लिया और मौन होकर खड़े होकर के या बैठ करके जैसा भी हो उस एक ब्रह्म सत्य को जानने के सिवाय और किसी भी प्रकार के मुक्ति को निष्पा होने नहीं दिया पूर्ण गया उस ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा से उस ब्रह्म तत्व का चिंतन करते हुए उस ब्रह्म तत्व को ही जानने की इच्छा से उसी का ध्यान करती थी अतएव तो शास्त्र कृपा तो ब्रह्म विद्या आपके हृदय में उसी देश में जिस देश में दूसरे नहीं जिस निर्णय ने अब आत्मा को टटोलने की चेष्टा की मन बुद्धि अहंकार से और आपको प्राप्त नहीं हुआ था वही परिचिन्नता को परित्याग करके उसी हृदय देश में आप जब खड़े हो जाते हैं तो उसी हृदय में उमात्र विद्या वही पर आपको अनुभव लोगों है जीव ब्रह्म का अनुभव के बाहर हो रहा नहीं है इसे तस्वीर आकाश है उसी आकाश में जिस आकाश में आपको जो आत्म प्रकाश की उचित अनुभूति हुई थी चिराघास रूप में अनुभूति हुई थी साक्षी रूप में अनुभूति हुई है उसी आकाश में वह विद्या शुद्ध ब्रह्मानुभूति कराई हुई बड़े शास्त्र के बाहर नहीं ये ना समझे पोथी शास्त्र है पोथी शास्त्र नहीं है अक्षरों के द्वारा विन्यस्त करके ग्रंथों में छपा हुआ वह शब्द वाक्य को शास्त्र मत समझिए विक्रम विद्या नहीं है इन अक्षरों के द्वारा इन वाक्यों के द्वारा गुरु मुख से जब शुद्ध होकर के आया हुआ हो वो ग्रह विद्या है इसे अपने से पढ़ा हुआ आदमी को कभी अग्र विद्या सफल नहीं होती आचार्य देव ही प्राप्त स्वाधिष्ठान होते चांदव्य परिषद में स्पष्ट करते हुए इस बात को जब आचार्य मुख से आप इस चीज को सुनेंगे नहीं और उसको अपने जीवन में बिताएंगे नहीं तो में नहीं हो सकती है इसलिए यहाँ पर सारे कथा जगह में कथा है ना लेकिन देखो उस कथा का चिंतन करने पर कहाँ पहुंच रहे मध्यम अधिकारी के अनुसाधन के लिए होता हुआ सारी घटनाओं के साथ सुनने हो रहा जिस समय इन सारी को छोड़ करके सोपारी को परित्याग करके चिरावास या विवाह को परित्याग करके जब खड़ा हो जाता है उसी हर आकाश में वह मनन करके उद्घाटन करने लगता है तो वहाँ द्रविद्या अनुभूत होती है जब आवर विद्या का ना सुख विकार सुख का तो कुछ नहीं वर्णन किया है हमने कि वह वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी है निरंतर निर्माता रूप में रहता है सहज समाधिस्थ पुरुष के मुख से जब आप सुनेंगे तभी यह विद्या मृत्यु कभी न कभी ऐसा समय मिलेगा और उसको पूरा पढ़ाने की जरूरत नहीं जैसे हम पढ़ा रहे हैं वो तो केवल राम ब्रह्माष्टमी कर दिया तत्व ब्रह्माष्टमी तत्व अच्छी कहा देगा अरे तू ब्रह्म जा क्या सोच रहा भाव की बात है वो ऐसे ही बोल देती है बोलते भी नहीं कहीं तो ऐसे ही मुझे लिया बस हो गया होगा कल्याण खत्म दृष्टि मात्र तो से ही संसार की जो गांठ उसको ऐसे गुरु कभी ना कभी किसी किसी दिनों में भूल जाए लगे रहना पड़ेगा कभी यह हनुमति जो उड़ा है वह भूत हो जाएगी अपने जीवन में उस कुमार ने क्या दिया इस बात को स्पष्ट करेंगे और उपासना जो बताई जिसको लेकर के इंद्र को दोष देगी ब्रह्म होवाच ब्रह्मा ने तो जवाब दिया जो वह प्रकाश में पुण्य यक्ष था वह ब्रह्म ही था और किला ब्रह्मा ईश्वर से विजय और वास्तव में जो विजय था हाँ, वह ब्रह्म का विजय था उस विषय में ईश्वर जिता असुरा ईश्वर के द्वारा ही असुरों को जीत लिया गया था यूयम तो निमित्त मात्र और सुन लो जो है उसमें निमित्त मात्र रहे हो तस्वीर विजय यूयम वही अध्यम महिमान प्राप्त हो इसलिए ब्रह्म का विजय में ही आप लोग अपने महिमाओं को प्राप्त हो चुके हैं एक क्रिया विशेषण एक है वो क्रिया का विशेषण है विद्या विवाह तो युष्मागम आप लोगों का जो है यह के विद्या विमान तक अयम युष्मागम विद्या विमान यह जो है आप लोगों का विद्या विमान क्या हम लोगों ने क्या विद्या विमान दिया था उसी को अभिवेक कर रहे हैं जो पहले वो समझी थी अस्माकम वायु जो अस्माकम वायु ऐसा जो वो अभिमान कर रहे थे वो मिथ्याभिमान ही है तस्मत तस्मात उमा वाक्याधीन इसलिए उस उमा के वचन के आधार पर ही इंद्र ने जान लिया विधान चार कौन ब्रह्म चकारा अवधारणा इंद्र ने जो है ब्रह्मा के वाक्य से ही यह निश्चित रूप से जान लिया कि वह ब्रह्म ही था तो है वही थी तो एवं क्यों कहना पड़ा कहते ये त्यागों करता है तो स्वतंत्र रूप प्रेम ही सामर्थ्य से वो जान नहीं पाया ब्रह्म विद्या की कृपा के बिना जो है हो नहीं यह तंत्र उपनिषद पुरुषम ज्ञान ही कहा है ये उपनिषद एक विधि है और ऐसे सीधा को जानने की चेष्टा करेगा बैठ करके ध्यान समाधि लगा करके कोई जान नहीं सकता इंद्रता कभी अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी वह स्वतंत्र रूप से इस तत्व को नहीं जान सका तो आज के मनुष्य का अमल क्या जाने इस तरह से ब्रह्म विद्या के बिना भी ब्रह्मा को क्यों और उसका ये बात स्पष्ट किया तस्माद एक देवा अधितराम अन्यान देवान यद अग्निर्वायु इंद्र ते हेन प्रगलो विधान चकार अग्नि वायु और इंद्र ये जो तीन लोग हैं ये अन्य समस्त देवताओं में से अत्यंत समीप होकर के ब्रह्म को जाना स्पर्श किया तो अत्यंत समीप होकर के इस ब्रह्म को पस्पिश स्पर्श कर गए स्पर्श कर जाए मतलब दोनों के बाद किया इसने मतलब विद्या की सहायता से तत्व को जान लिया इसलिए तस्माद वे देवा अन्यान देवान अतितरा युवा बीजो ये अग्नि वायु इंद्र ये भी ये ये जो तीनों है अन्य जितने भी देवता हैं उन सब की अपेक्षा से अतिक्रमण किए के समान बुद्धि अहंकार के नाय के सारी इंद्रिया देवता ही तो पंच ज्ञान इंद्रिया है चक्षरादि पंच कर्म इंद्रिया है मन बुद्धि अहंकार के न करेगी क्या यूनिवर्सल जैसे देवरा देवाह इंद्रिया अन्य देवान मन अन्य समस्त इंद्रियों के पीछा से मन बुद्धि अहंकार उदाग्नि और आपका वायु इंद्र यही सर्वश्रेष्ठ हुए गए अतिक्रमण के समान हो गए अंत्य ही ही मुझे अस्मार्थ प्रथम ज्ञान जरूरी क्योंकि वही लोगों ने इसको सर्वप्रथम ज्ञान दिया था यह ब्रह्म इन्हीं से ही अहंकार सबसे मुख्य उन तीनों में से भी अहंकार के मन बुद्धि में ठप हो जाती है मन बुद्धि भी क्या करे अहंकार है तो चल रहा है अहंकार थोड़ा ढीला पड़ जाए आगे क्या आम ठंडा हो जाए पूरा ठंडा हो जाता है सही निविष्टम संभोषण सही द्वारा इसी कारण से ही इंद्र भी क्या है अचित्राम क्यों अन्य देवान अन्य समस्त और मैंने मन बुद्धि अग्नि और वायु को भी क्यों स वायु तेरतीस ब्रह्म को निष्ठम अत्यंत सामर्थता से स्पर्श कर लिया संबंध हो गया अर्थात जो है ब्रह्म विद्या की सहायता से उसको समय प्रकार से जान लिया सही ब्रह्म की क्योंकि वही जो इंद्र है और अग्नि और वायु के पीछे है मेरी पहले जान वो आकर के अग्नि और वायु को बताया कि वो ग्रहण था इसलिए इन तीनों को ही उपासना के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है मन बुद्धि अहंकार को इनकी वास्तविक स्वरूप को मिथ्या को निश्चय करने के लिए आपको उपासना ही करना पड़ेगा उसके बिना कोई रास्ता नहीं इसलिए कहते हैं विषाणेश यहाँ तक की परिभाषा अभिवारिंदा संवाद दर्शनादिना ब्रह्म के संवाद और ब्रह्म से उनका जब ब्रह्म का दर्शन भी हुआ ब्रह्म से उनका संवाद भी हुआ इत्यादि के कारण से सामिप्य उपगता समीप पहुंचे हुए हैं घटनाल ऐश्वर्य गुणित हुआ ऐश्वर्य और गुणों से ये लोग तो अन्य देवताओं के निर्भर से अतिक्रमण किए के समान है शक्ति गुणादि महाभाग्य ही अन्य देवान अतितराम अतिशयन श्रेय के देवा तो शक्ति गुण आदि महाभाग्य ही इत्यादि संपन्न महाभाग्यवान पुरुष नहीं है इसलिए इन लोगों के द्वारा अन्य देवताओं को अतितराम मैंने अतिशय शीलता अतिशय वर्तन दो अन्य उत्कृष्ट अंत भाव अन्य के अपेक्षा से उत्कृष्ट प्राप्त करे ये इसका प्राप्त करे और यह शब्द अनर्थ को अवधारणार्थ होगा यहाँ पर जो यह शब्द है वो अनर्थक है या एवं अर्थ में समझो अवधारण है एवं अतितराम युवा नहीं है उत्कृष्ट के समान ही उत्कृष्ट ही हो गए वास्तव में उत्कृष्ट उनको प्राप्त हमने युवा और क्या उपनाम में नहीं लेना एवं ये अग्नि वायुरिंद्र से ही देवा जो अग्नि वायु इंद्र है ते देवा स्मार तेज द्रव्य ब्रह्म जिसमें वह वैसा गए किंजी वे लोगों ने यह तुम्हारे इस ब्रह्म को निष्म अंतिम प्रियतमम स्पष्ट हो उसको प्रियतम रूप देना अत्यंत सामित्य रूप से स्पष्ट कर गए उन्हें सम्मान कर गए अर्थात सम्राट के द्वारा या दर्शन के द्वारा इनकी जो है वास्तविक का जो है क्रियपम का ही होता है और यदि शत्रु है अप्रिय वस्तु है वो जितना भी जमीन से वो लिए बहुत दूरी है आप उसके विरुद्ध देखेंगे बगल में कोई शत्रु जो बैठ जाए बल्कि उल्टा हो जाए तो कब यहाँ से भाग हम्म? यहाँ का विद्रोह गाड़ी आ जाए कब वापस कुछ ना कब अपने में आ जाए तो बड़ा चू चू चू करते रहे उसी से बात करते रहे चू फर्क है ना ऑपरेशन तो दूर लग गया और जगह भी बिगाड़ने की तो मुश्किल है बहुत मत दूर जाए कहीं हमारा आदमी उधर है आप थोड़ी देर हो जाए एडजस्ट करो वो तो किसी तरह से छुटा कर उसको लाएंगे दूर रहता है प्रयोग का मन इतने नजदीक हो जाता है नजदीक हो आप भी हो भी दूर इसलिए कहते हैं नजदीक से जानने का मतलब क्या प्रिय देवत वेदमम वस्तुष हो सृष्टान को तदर्थ ही ब्रह्म संवाद आदि प्रचार ही ब्रह्म से संवाद आदि साधनों की गर्भलोक प्रक्रिया के अनुसार उन्हें संबंध कर लिया यस्मात चेत संत इसलिए की छिन्नवन को अनुभव प्रगमन प्रधान रूप से प्रधान होता हुआ सबसे पहले उसको जाना था फिर भ्रम करके इसलिए लोग श्रेष्ठ गए इसके बाद अगली वायु अपी निराचार्य उदाहरण से देखो अगली वायु अभी अग्नि और वायु भी ये भ्रम था ऐसे कब जाने अपने से नहीं ब्रह्म क्या का देवी नहीं ये इंद्र का वाक्य